दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजशत दर्स में हमने ये हदीस पाक समाप्त की थी व ईयाकुम व ईयाहुम ला युदिल्लूनकुम वला कुम अपने को इन लोगों से दूर रखो और उन लोगों को अपने आप से दूर करो कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें और हमारी इस नशिश का जो मकसद है वो ईमान की सलामती है तो जिन लोगों के अकायद और नज़रियात दुरुस्त नहीं है हमें उनसे दूर रहना चाहिए और उनको अपने आप से दूर रखना चाहिए क्योंकि अच्छे की सोहबत अच्छा रंग देती है और बुरे की सोहबत बुरा रंग देती है आग जब लगी होती है तो उस आग के करीब बैठने से गर्मी जरूर पहुंचती है तो जिसके सीने में कुफर की आग है निफाक की आग है बदअकीदगी की आग है बुग्ज रसालत की आग है या बुग्ज सहाबा की आग है या बुग्ज अलिया की आग है तो उसके जब करीब जाएंगे उससे दोस्ती करेंगे उससे मोहब्बत का बर्ताव करेंगे उसके पास उठना बैठना रखेंगे तो कुछ ना कुछ असरात ज़रूर आते हैं सर सैद अहमद ख़ान आप जानते हैं कि सर सैद अहमद ख़ान का जो घराना था इनका घराना कोई बदअीदा नहीं था लेकिन सर सैद अहमद ख़ान के ताल्लुकात ऐसे लोगों से हुए कि जो इमामों की तकलीद को नहीं मानते थे गैर मुकलदीन फिर सर सैद अहमद खान उनकी सोहबत में बैठकर आज़ाद ख्याल हो गए और गैर मुकलदीन ने सर सैद अहमद खान के जहन में ये बात डाल दी कि कुरान हदीस हर इंसान हर मुसलमान कुरान पढ़े हदीस पढ़े और उससे जो वो नतीजा अक्स करे उस पर वह अमल कर सकता है किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं किसी कुरान हदीस के माहिर की राय की ज़रूरत नहीं आप कुरान का तर्जमा पढ़िए और हदीस का तर्जमा पढ़ें जो आपकी समझ में आए आप अमल करें तो सर सैद ये सोच कर आज़ाद ख्याल हो गए फिर इनके ताल्लुक अंग्रेज़ों से भी थे तो हुआ ये कि अंग्रेज़ों के साथ उठने बैठने से और अंग्रेजों के एतराजात सुन सुनकर वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने फिर कुरान और हदीस को अपनी अकल से पढ़ना शुरू किया और 1400 साल तक जो बुजुर्गान दीन की तफासिर थी खिदमत थी उनको सबको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के एतराज़ात के जवाब तो वह ना दे सके उन्होंने कुरान और हदीस की हर चीज़ को बदल के रख दिया जैसे कि आप इससे पहले सुन चुके हैं कि अंग्रेज कहते थे कि जिन और फरिश्ते हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आते ये मुसलमानों की वहम परस्ती है मुसलमान जो है तखयल वाली कौम है ख्यालात में पड़ी रहती है ये इनको वहम हो गया है ऐसी कोई कौम नहीं है तो सर सैयद उनके एतराज़ा से इतने वो हुए कि उन्होंने जिन का तर्जमा किया शरीर इंसान और फरिश्ते का तर्जमा किया शरीफ इंसान और कहा यह कोई अलग मखलूक नहीं ये इंसान ही है कुरान में जिन्नात हो इस तरह फिर उन्होंने जन्नत का इनकार किया जहन्नम का इनकार किया और कहा कि जन्नत से मुराद ये है कि जो इंसान अच्छे अमाल करता है उसकी दुनिया जो है जन्नत बन जाती है यानी दुनिया के अंदर वो सुकून की जिंदगी पाता है और जो बुरे अमाल करता है तो उसे दुनिया में मुसीबतें और परेशानी आती हैं यही उसकी जहन्नम है तो उन्होंने हर चीज का इनकार करते गए तो सर सैयद कि अगर खानदानी बैकग्राउंड देखें और उस माहौल को देखें तो सर सैद ने इतनी बड़ी जो है दाढ़ी रखी हुई है लेकिन इसके बावजूद इनके आखिरी इनके अकायद जो हैं इस्लामी नज़रियात के बिल्कुल खिलाफ है तो कैसे हुआ कभी इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि मैं ऐसा बिगड़ जाऊंगा लेकिन वो बिगड़े कैसे बुरे लोगों की सोहबत से इसलिए हदीस पाक में वाज तौर पर फरमाया गया कि बुरे लोगों को अपने से दूर रखो और अपने आप को उनसे दूर रखो उनसे मेल मिलाप दोस्ती और उनसे मोहब्बत के ताल्लुक उनके पास घंटों बैठना उनकी तकरीरें सुनना उनकी बातें सुनना ये वसवसा पैदा करती हैं और इंसान का जहन जो है ख़राब करती हैं आम तौर पर हमारे इस माशरे में लोगों का जहन ये पाया जाता है कि भाई हम सुनते सबकी हैं करते अपनी हैं सुनने में क्या हरज है तो देखें दुनियावी तौर पर दुनियावी मसाइल में हम सबकी बात सुने और अपनी करें इसमें कोई हरज नहीं लेकिन दीन के मामला में हम दीन के एक्सपर्ट नहीं हैं हम कुरान और हदीस पर महारत नहीं रखते हम कुरान की तफासिर पर अहादीस तैयबा की तशरीहत पर कौन सी हदीसें जो नासिक हैं कौन सी हदीसें मनसूख हैं कौन सी आयतें नासिक हैं कौन सी मनसूख हैं कौन सी ऐसी हदीसें हैं कि रसूलुल्लाह ने बाद में दूसरा हुक्म नाजिल किया उसके बारे में मालूम नहीं है तो हम एक हदीस पढ़ेंगे एक जहन बना लेंगे जैसे मिसाल के तौर पर हदीस पाक में सराहत मौजूद है कि साहबा कराम नमाज में गुफ्तगु किया करते थे और गुफ्तगु करने से नमाज नहीं टूटती थी वाज तौर पर हदीसें हैं और सियासता में हदीसें हैं कि साहबा कराम नमाज में गुफ्तगु किया करते थे बातें किया करते थे और नमाज में बात करने से नमाज नहीं टूटती लेकिन ये हदीसें कब की हैं ये हदीसें इब्तदाई इस्लाम की हैं बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में गुफ्तु करने से मना कर दिया और वो हदीसें भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम्हें कोई भी नमाज में गुफ्तु ना करे नमाज में गुफ्तु करने से नमाज टूट जाती है अब जिसकी नज़र में वो हदीस ना हो और सिर्फ वही वाली हदीस हो तो वो तो वो कहेगा सारे लोग गलत हैं लोग कहते हैं नमाज में गुप्तु करने से नमाज नहीं टूटती लेकिन हदीस में तो है यानी लोग कहते हैं नमाज में गुप्तु करने से नमाज टूट जाती है लेकिन हदीस में तो है कि साहबा गुफ्तु किया करते थे मैं तो हदीस पर अमल करूंगा मैं इमाम की बात नहीं मानता लेकिन वो दर हकीकत हदीस पर अमल नहीं कर रहा वो हदीस के इल्म को जानता नहीं है वो एक मनसूख हदीस पर अमल कर रहा है कि पहले इजाजत थी बाद में मना कर दिया गया लेकिन अपनी कम इल्मी की वजह से तमाम हदीसों में महारत न होने की वजह से उसके सामने वो हदीसें हैं जैसे आपको अर्ज किया था रफादैन की हदीसें तो रफादैन साहबा कराम भी करते रसोल्ला भी करते हैं लेकिन आप सोचें क्या इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तु कि जो साहबा कराम से इल्म हदीस हासिल करते हैं और जो ताबई बुजुर्ग हैं जिनकी बुजुर्गी को पूरी दुनिया मानती है जिनकी विलायत को और जिनका आलम यह है कि चालीस साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते हैं जिनका आलम यह है कि सिर्फ एक थान में ऐब था और वो ऐब का इजहार नहीं किया मुलाजिम ने और पूरी दुकान का सामान बेच दिया तो जितना नफा हुआ था बल्कि एक रिवायत में है तो असल रकम भी इसके कफारे में सारी खैरात कर दे जिनकी तकवे का ये आलम हो कि जा रहे हो दीवार हो और लोग कहें इस दीवार के साय में खड़े हो जाएं धूप है अभी तो कब्र की खुदाई हो रही है कब्रस्तान में खड़े हैं आप फरमाते मैं इसके दीवार के साय में खड़ा नहीं रहूंगा इसलिए कि ये मेरा मकरूज है और मुझे डर लगता है कि मकरूज की दीवार के साय से नफा उठाओ कहीं ये भी सूद में ना लिख दिया जाए जो इतनी एहतियात करते हो क्या वो रसूलुल्लाह की हदीसें रफ़ादैन के होने के बावजूद क्या ऐसा मुमकिन है कि वो कहें मैं रफ़ादैन नहीं करूंगा वो तो रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर मरते थे बात क्या थी इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ने जब अहादीस तैयबा पर तहकीकत की तो आप पर यह बात सामने आई कि रफ़ादैन शुरू में था और फिर रसूलुल्लाह ने मना कर दिया जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की सही हदीस है तो रफ़ादैन मनसूख हो चुका अब अगर कोई अमल करेगा तो उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि पहले इसके करने का हुक्म था बाद में मना कर दिया गया तो इमाम आजम ने हदीस को रद्द नहीं किया बल्कि इमाम आजम ने यह बताया है कि ये हदीसें बाद में मनसूख हो गई अब दूसरा हुक्म आ गया मिसाल के तौर पर साहब का नाम शराब पीते थे और शराब पी के उन्होंने नमाज भी पढ़ाई हम कहते हैं शराब पीना हराम है तो क्या हम इन हदीसों को नहीं मानते हम मानते हैं इन हदीसों को लेकिन हम ये कहते हैं ये हदीसें शराब के हराम होने से पहले की हैं उस वक्त शराब हलाल थी जब बाद में हराम हो गई फिर किसी साहबी ने शराब नहीं पी इसी तरह पर्दे के जो अहकाम हैं कि पर्दे के अहकाम से पहले सहाबियात पर्दा नहीं करती थी तो जितनी हदीसों में जिक्र है कि वो पर्दा नहीं करती थी वो पर्दे के अहकाम से पहले की हदीस हैं हम उनको भी मानते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि फिर बाद में पर्दे का हुक्म आ गया और जो रसूलुल्लाह हुक्म को मनसूख कर दें अब उस हुक्म पर अमल करने की हमें इजाजत हरगिज नहीं है तो मैं कर रहा था कि जब इंसान के पास इल्म नहीं होता और वो कहता है कि मैं सबकी सुनूं तो हम मुझे बताइए कि वो फैसला कैसा करेगा वो गुस्ताख साहबा की भी जो बात सुन रहा है गुस्ताख औलिया की भी बात सुन रहा है गुस्ताख रसूल की बात भी सुन रहा है जो हदीस का मुनकर है उसकी भी बात सुन रहा है अब वो टीवी खोलकर बैठता है कभी जावेद गांधी को सुनता है कभी जाकिर नाइक को सुनता है कभी डॉक्टर इसरार को सुनता है तो कभी फरत हाशमी को सुनता है तो कभी जो है किसी और उसको स्कॉलर को सुनता है हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है उसके जहन में वो सलाहियत ही नहीं उसका इतना इल्म ही नहीं कि वो गलत और सही में इम्तियाज कर सके नतीजा क्या होगा जो बात उसके दिल को अच्छी लगेगी वो ले लेगा मसलन आदि से तय्यबा से ये साबित है कि कुरान पाक जिस पर गुसल फर्ज हो वो कुरान को नहीं पढ़ सकता कुरान को हाथ नहीं लगा सकता जो नापाक हो वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता कुरान नहीं पढ़ सकता लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं जो नापाक हो उस पर गुसल फर्ज हो वो कुरान को छू भी सकता है पढ़ भी सकता है तो बताइए कुरान अदीश के खिलाफ उन्होंने बात की कोई वाज दलील नहीं दी लेकिन सुनने वाला ये सोचता है कि यार इसमें कितनी आसानी है कि वजू हो या ना हो गुसल हो या ना हो मैं कुरान को हाथ लगा सकता हूँ बड़ी आसानी है कोई आकर टीवी पर यह कहता है कि जनाब कुरान को आप जमीन पर भी रख सकते हैं कुरान किताब है और उसके नफ्स को यह बात अच्छी लग जाती है वो कहता है कितनी अच्छी बात है भाई कुरान को चप्पलों पर भी रख सकते हैं टीवी पे और जो है जो कुरान को जमीन पर भी रख सकते हैं तो हमारा नफ्स कमजोर है हम जो भी बात सुनते हैं नफ्स को जो अच्छी लगती है वो कबूल कर लेते मक्के मुकर्रमा में हल्के लगते हैं और नजदी उलमा जो हैं वो मुख्तलिफ जबानों में वो तकरीरें करते हैं तो वहां पर एक शख्स है वो उर्दू में तकरीर करता है उसका नाम है मक्की ये रसूलुल्लाह की इतनी गुस्ताखियां करता है और साहबा कराम और अलिया की इतनी गुस्ताखियां करता है कि मज़ारात को वो सोमनाथ का मंदिर कहता है और कहता है कि ये मज़ार पे जाना ये शिरक है और ये सब बुत बने हुए हैं नवजुबिल्ला हमिन जालिक और बड़ा ही मुंह फट आदमी है तो हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती हैं आलिम हैं उन्होंने मक्के शरीफ में मुझे बताया कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो इसकी तकरीर हो रही थी तो मुझे नहीं पता था कि यहां पे बैठेगा उसने तकरीर शुरू कर दी कहा मैं अपनी नमाज पढ़ रहा था तो नमाज के दौरान तकरीर के दो तीन अल्फाज मेरे कान में आए तो कहा मेरी रूह तड़प गई मेरा जिसम तड़प गया किसी ने खड़े होकर सवाल किया कि हम यहां बैठे हुए हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग खाने काबा की तरफ पांव करके बैठते हैं कोई पांव में तकलीफ भी नहीं है कोई बीमारी हो तो अलग बात है ये जान कर पाँव करते हैं खान काबा की तरफ और हम यहाँ नजदियों को ये देखते हैं कि नजदी जो मुतवे है ये लोगों को खान काबा की बेदबी से नहीं रोकते लोग यहाँ कुरान की बेदबी करते हैं कुरान को ज़मीन पर रखते हैं चप्पलों पर रखते हैं ये नजदी मुतवे जो हर वक्त शिरक बिदत और हराम और ममनू के फतवे लगाते हैं वो कुरान की बेदबी से किसी को नहीं रोकते सवाल करने वाले ने यह सवाल किया तो उसने जवाब क्या दिया पता है उसने जवाब दिया कि खाने काबा की तरफ पाँव करने में कोई भेद भी नहीं आप खाने काबा की तरफ पाओ आपका जिल चाहे तो कर सकते हैं नवजुबिल्लाजाले आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें कितना बाअदब पैदा फरमाया कि हम यहां से खाना काबा की तरफ पाओ नहीं कर सकते और वो कितने बेअदब हैं और कितने वो नेमत की कदर ना करने वाले हैं कितने ना कदरे हैं कि मस्जिद हराम में बैठकर खाने काबा की तरफ सामने पाँव करते हैं और जानबूझ के करते हैं और कहते हैं इसमें बेदबी वाली कौन सी बात है नवजुबिल्ला मिजाले तो वो ये बात जो है मैंने खानेवाल के मुफ्ती आजम है मुफ्ती अशफाक साहब उनके सामने जिक्र की कि ये शख्स इस तरह कह रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक वाक़ हुआ कि एक शख्स जो है उसने वो कुरान इस तरह पढ़ रहा था कि कुरान को उसके पांव लग रहे थे वो नजदी था कुरान रखा हुआ था और पांव जो है वो कुरान के करीब थे तो पांव बार बार कुरान को लग रहे थे तो एक देहाती आदमी था उसने कहा कि ये आप क्या करते हैं ये हराम है कुरान को पांव लगा रहे हैं तो कहने लगा इसमें बेअदबी की कोई बात नहीं इससे कुरान की कोई तोइन नहीं होती उसने कहा अच्छा चले असलम उसने इसको सलाम किया देहाती ने तो उसने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए तो उस देहाती ने क्या किया कि हाथ में अपना पांव दे दिया तो उसने कहा ये क्या करते हो मेरे हाथ को अपना पांव लगाते हो का कुरान पर पांव लग जाए तो बेद भी नहीं होती तो तेरे हाथ को पांव लग गया तो क्या बेद भी हो गई यानी अपने ऊपर आती है तो कितना आदमी चीख पड़ता है लेकिन कुरान का अदब नहीं है तो मैं कर रहा था कि ये जो सोच है कि हम सबकी सुने और करें हम करें अपनी ये सोच दीन के मामले में बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें कुरान का इल नहीं हदीस का इल नहीं अब एक शख्स अरबी में हदीस पढ़ता है आपको बुखारी का हवाला भी देता है सफ़ा नंबर भी बताता है लेकिन वो हदीस का तर्जमा गलत करता है तो बताइए आपको क्या पता कि उसने हदीस का गलत तर्जमा किया हो सकता है ऐसा भी हुआ कि उन्होंने सफा नंबर भी बताया हदीस भी पढ़ी लेकिन वो बुखारी में हदीस है ही नहीं तो आप क्या बुखारी में चेक करने बैठेंगे कि वो हदीस है कि नहीं डॉक्टर जाकिर नाई को कहता है कि सूर्य अनफाल की आयत नंबर फना के अंदर अल्लाह ने ये फरमाया और कई मरतब हमने चेक किया जो नंबर वो आयत का बता वो आयत नहीं पढ़ता तर्जमा भी नहीं करता बस अवकात वो जो नंबर बताता है उसमें उसका कोई जिक्र ही नहीं होता लेकिन जो लोग बैठे हैं उनके पास इतना इल्म नहीं ना इतना किसी के पास टाइम है कि वो चेक करे कि भाई कुरान की इस आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है इसका मफहूम क्या है इससे मुराद क्या है और मुस्तनद मुफसरीन ने क्या बात लिखी है तो अगर ईमान की हिफाजत चाहिए तो आंखें बंद करके टीवी खोल के मत बैठे इसमें कदियानी भी आ रहे हैं यहूदी ईसाई ईसाइयों के agent C I A Mossad के एजेंट इस्लामी लिबादा ओढ़ कर आ रहे हैं क्लीन शेव खशखशी दाढ़ी रखने वाले बड़ी दाढ़ी वाले पैंट शर्ट वाले टाई वाले टोपी वाले हर तरह के लोग हैं मुख्तलिफ चैनल हैं इस वक्त दुनिया के अंदर कई टीवी चैनल वो हैं कि जिन पर इस्लामी प्रोग्राम में जितने स्कॉलर आते हैं सारे कादियानी हैं तो आपको क्या पता चलेगी ये कौन है इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी हैं कि हैं इस्लामिक चैनल ये आम चैनल है लेकिन उसमें अच्छे लोग भी आ रहे हैं बुरे लोग भी आ रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सोच समझ के दवाई लेते हैं ये तो नहीं करते कि भाई सब जो भी डॉक्टर बन जाए उसके पास जाओ बल्कि हम देखते हैं कि वाकई ये डॉक्टर है और इसकी दवाई जो है ये, ये लोगों को फायदा देती है कि नहीं तो हम अपने ईमान की फिक्र करें उसी के पास जाएं जो वाकई रूहानी डॉक्टर हो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसके रसूल की मोहब्बत हो कुरान की मोहब्बत हो सहाबा और अलिया की मोहब्बत हो जब मोहब्बत होगी तो उसके पास बैठने से भी इसके रसूल में इजाफा होगा मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा आपके दस्ते मुबारक पर हजारों काफिरों ने इस्लाम कबूल किया अला हजरत इमाम अहल सुन्नत के साहिबजादे हैं मुफ्ती आजम हिंद आप बयान नहीं करते थे तकरीर नहीं फरमाते थे किसी इलाके में आप तबलीग के लिए जाते तो जलसा होता जलसे में मुकर तकरीर करता और हजरत मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा कुर्सी पर सिर्फ जलवा अफरोज होते आपका दीदार करके कितने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते क्योंकि इश्क रसूल जब होता है ना उसका असर होता है और उसका असर वो कैसा होता है कि हजरत अब देखें ख्वाजा गरीब नवाज न टीवी था न रेडियो था न अखबार था न प्रेस थी न ये जदीद जराए थे अकेले आए इश्क रसूल की क्षमा अपने अंदर लेकर आए गौस पाक से दुआ करवा के आए और दाता गंजबख्श अल रहा की बारगाह में चालीस दिन जो है आपने क्याम किया वहां से फैज लेकर आए तो अकेले होकर आपने नब्बे लाख काफरों को मुसलमान कर दिया तो असल चीज ये है आज अगर मुसलमान होते हैं तो नाम के मुसलमान होते हैं अगर कोई किसी ईसाई यहूदी को मुसलमान करता है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जिनको मुसलमान किया वो पक्के मुसलमान थे और आज कल के मुसलमान जो होते हैं तो उस मुसलमान में जो नौ मुस्लिम है उसमें और यहूदियों और ईसाइयों की तहजीब में कोई फर्क नहीं होता तो ऐसे मुसलमान कि जिनमें जरूरत हो इश्क रसूल हो वो बना सकता है कि जिसके अंदर खुद क्या हो इश्क रसूल का मादा हो एक दूसरी बात वो ये कि हमने मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक सुना कि उन्होंने यूं लिखा है अब कई ऐसे लोग हैं कि जब आप उनसे गुफ्तु करें तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते इस चीज को ये तो गलत है हम तो ये अकीदा नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम तो ये अकीदा रखते हैं कि नहीं सवाल यह है कि जिस शख्स की किताब के अंदर यह बात लिखी है इस शख्स के बारे में आपकी राय क्या है इस शख्स के बारे में आपकी राय यह है कि हमारे बुजुर्ग हैं हमारे पेशवा हैं हमारे इमाम हैं इन्होंने जो लिखा सही लिखा बाकी हमारा यकीदा नहीं है तो आप बताइए आप भी इस जुर्म में शामिल हो गए कि नहीं क्योंकि जो गलत बात कहे उसको गलत मानना क्या है जरूरी है तो होता यह है कि जिन लोगों के आपको अकायद बयान किए गए उन फिरकों के लोगों से आप अगर मिलें और उनसे कहें कि तुम्हारे फुला बुजुर्ग ने ये बात लिखी है तो बोलते हम तो इसको नहीं मानते तो हम बाज लोग उसमें वो उनकी बातों में आ जाते हैं लेकिन सवाल उनसे ये होना चाहिए कि जिसने ये बात लिखी तुम उसे काफिर मानते हो कि नहीं उसको गलत कहते हो कि नहीं अगर तुम उसे काफिर मानते हो गलत कहते हो तो फिर अपना पेशवा क्यों मानते हो और जो इनको पेशवा मानते हैं उनको गलत क्यों नहीं कहते वहां पर वो ये तावील करता है नहीं जनाब हम किसी को काफिर नहीं कहते हम किसी को काफिर नहीं कहते अल्लाह जाने कि उन्होंने जो किया वो अल्लाह हिसाब लेगा तो फिर सवाल यह है कि अगर आप उसको काफिर नहीं मानते तो फिर क्या मानते मुसलमान मानते हैं तो काफिर को मुसलमान मानना जायज है जिसने रसूलुल्लाह की बेअदबी सराहतन की हो उसको बेअदब और गुस्ताख ना माने तो आप बताइए कि खुद हम काफिर हो जाएंगे दूसरी बात यह कि आप कहते हैं अगर उन्होंने गलत किया है तो अगर मगर का मतलब यह हुआ कि आप खुद इसको गलत नहीं मान रहे अगर अगर आप इसको गलत मानते हैं तो फिर अगर मगर नहीं करेंगे आप कहेंगे हाँ इसने गलत किया है ये कुफर है और मैं इसको पेशवा नहीं मानता जहां तक जहां तक ये बात है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए तो ये बात गलत है काफिर को काफिर कहना चाहिए और मुसलमान को क्या कहना चाहिए मुसलमान कहना चाहिए देखें तकवीतुल ईमान इस्माइल देहलवी की किताब है इस वक्त पाकिस्तान के जो देवबंदी हैं जो तबलीगी जमात वाले हैं जमात इस्लामी डॉक्टर इसरार की तंजीम तंजीम इस्लामी इसी तरह फरत हाशमी अलहुदा इंटरनेशनल वाले इसी तरह जाकिर नाइक इसी तरह गैर मुकलदीन जो अपने आप को अहल हदीस कहते हैं सब सब इस्माइल देहलवी को अपना इमाम और पेशवा मानते हैं और सबके नज़दीक इसकी किताब बड़ी मोतबर है और इसकी किताब पढ़ने का वो सबको दर्श देते हैं ये इस्माइल देलवी है यानी आप समझ गए ये तमाम इन लोगों का यानी यूं समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जितने लोग मुसलमानों पर शिरक और बिदत का इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर शिरक और बिदत का इल्ज़ाम लगाते हैं सुन्नियों पर वो सब के सब इस्माइल देलवी को अपना पेशवा मानते हैं और अपनी किताबों में लिखा कि ये किताब बड़ी उम्दा किताब है तकवीतुल ईमान सफा साठ में हदीस है अरअत लव मररत बिकबरी अकुंत तस्जुद लहू भला ख्याल तो कर जो तू गुजरे मेरी कब्र पर क्या तू उसे सज्जा करेगा एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानवर आपको सज्जा करते हैं आपको एक ऊंट ने आकर साहबा कराम के सामने सज्जा किया तो उन्होंने कहा कि जानवर सज्जा करते हैं तो हम ज्यादा हक रखते हैं हमें भी इजाजत दीजिए कि हम सज्जा करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सज्जा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है यानी ये साहबी इबादत के सज्जे की बात नहीं कर रहे थे ताजीम के सज्जे की बात कर रहे थे तो इबादत का जो सज्जा था वो पहले भी हराम था अब भी हराम है वो पहले भी शिरक था अब भी शिरक है लेकिन जो ताजीमी सज्जा है सज्जा ताजीमी ये पहले जायज था और अब हराम है फरिश्तों ने हजरत आदम सलाम को सज्जा ताजीमी किया यूसुफ सलाम के भाइयों ने यूसुफ सलाम को सज्जा ताजीमी किया जैसा कि कुरान पाक में इसका जिक्र है जरा ख्याल तो करो कि क्या तुम मेरे मज़ार के करीब से गुजरोगे तो क्या तुम मेरे मज़ार को सज्जा करोगे ये हदीस के अल्फाज हैं अब आप बताएं कि रसूलुल्लाह के फरमान में इजाफा करने की किसी को इजाज़त है इस्माइल देलवी ने इसके आगे फा लिख कर हदीस में इजाफा किया यानी यानी यानी हदीस के अल्फाज क्या भला ख्याल कर भला ख्याल तो कर जो तू गुजरे मेरी कब्र पर क्या सज्जा करे तू उसको उसका यानी मैं भी एक दिन मर कर मट्टी में मिलने वाला हूं यानी ये हदीस के अल्फाज नहीं है लेकिन इसने हुजूर के अल्फाज बनाए और कहा गोया के हुजूर फरमा रहे हैं मैं भी एक दिन मर कर मट्टी में मिलने वाला हूं हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1637 सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1637 इशाद फरमाया इन अल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम किया वो नबियों के जिसम को नहीं खा सकती तो एक तो हजूर का फरमान उसने झूठा बनाया और फिर कितनी गलत बात कही कि मैं भी मर कर मट्टी में मिलने वाला हूं फनबी युर्जक हदीस में फरमाया तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं रोजी दिए जाते हैं हम आप बताएं कि ये जुमला जो है एक तो गलत अपनी तरफ से बनाया दूसरे ये जुमला कुरान और हदीस के खिलाफ भी है तीसरी बात यह कि इसमें बेदबी भी है मसला हम अपने वालिद के बारे में कहे मेरा बाप मर कर मट्टी में मिल गया बेदबी है कि नहीं जोर से कहें है ना बेदबी अब यहां पर इन्हें चाहिए था कि वो कहते कि ये इबारत उसने गलत लिखी है और बेदबी की है इसने रसूलुल्लाह की और हम इसको हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उन्होंने एक शख्स की मोहब्बत की खातिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ठुकरा दिया और इस्माइल देलवी से जिनको मोहब्बत थी उसकी वजह से इस्माइल देलवी को बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं उसका मतलब यूं नहीं होगा यूं होगा यूं नहीं होगा यूं होगा कहने लगे इसका मतलब यह है कि मैं भी एक दिन मरकर मट्टी से मिलने वाला हूं हमने कहा मैं और से में जमीन आसमान का फर्क है इसमें लफ्ज क्या है मैं एक दिन मरकर मट्टी मैं मिलने वाला हूं तो कहते हैं आप यहां पर से कर लें यानी उसको बचाने के लिए तो हम ये कहते हैं कि बेअदबी के अंदर एक तो नीयत नहीं देखी जाती बेअदबी में उर्फ देखा जाता है बेअदबी के क्या देखा जाता है कोई के मेरी बेदबी की नीयत नहीं थी लेकिन उर्फ में बेदबी है तो उसे क्या कहेंगे बेदबी कहेंगे मसला एक, एक अंग्रेज है वो कुरान पर जूता रख देता है जब हम उसको मारने लगते हैं तो कहता है मेरी बेदबी की नीयत थोड़ी थी मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि मेरा जूता कुरान पे फिट आता है कि नहीं नवजुबिल्लाजाल मिजाले तो अब बताइए हम उसकी नीयत का एतबार करेंगे या उर्फ का एतबार करेंगे उर्फ में कुरान पर जूता रखना क्या है बेदबी है कि नहीं दूसरी बात यह है कि डिक्शनरी के माना नहीं देखे जाते देखा यह जाता है ये जुमला उर्फ में बेदबी है कि नहीं जैसे कि आपको मिसाल दी थी किसी के मुतालिक कहा जाए कि आपके वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ लाए थे ये जुमला और तेरी माँ का शोहर मेरे पास आया था डिक्शनरी की लैंग्वेज में एक ही माना है एक ही माना है कि नहीं आपके वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ लाए थे और दूसरा जुमला तेरी माँ का शोहर मेरे पास आया था डिक्शनरी की लैंग्वेज में वो एक ही जुमला है लेकिन उर्फ में पहला जुमला अदब का है और दूसरा इंतहाई बेअदबी है कि अगर सुनने वाला सुन ले तो वो कम अज कम एक थप्पड़ जरूर मारेगा कि तुम्हें तमीज नहीं है तो वो थप्पड़ खाकर कहेगा कि जनाब मैंने कोई गलत बात कही है क्या आपके वालिद गिरामी आपकी अम्मी के शोहर नहीं है तो वो कहेगा कि इस अंदाज में गुफ्तु करना ये क्या है बेअदबी है तो ये कहना हुजूर के मुतालिक के हुजूर ने कहा मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिलने वाला हूं इंतहाई बेदबी का जुमला है दूसरी बात बात चल रही है अंबिया और अलिया की और इस किताब में है कि अंबिया और अलिया से मदद नहीं मांगनी चाहिए तो उसमें तकवीतुल ईमान नंबर 19 में अल्फाज देखें क्या हैं हमारा जब खालिक अल्लाह है और उसने हमको पैदा किया तो हमको भी चाहिए कि अपने हर कामों पर उसी को पुकारें और किसी से हमको क्या काम किसी से हमको क्या काम ये जो नजरिया है ना ये अंग्रेजों का नजरिया है वो रसूलुल्लाह से उम्मतियों का ताल्लुक वो तोड़ना चाहते हैं अरे रसूलुल्लाह से काम रसूलुल्लाह के बगैर हमारा काम बन सकता है ना कब्र में नजात मिल सकती है ना कयामत में नजात मिल सकती है देने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह देता है हजूर के वास्ते से ईमान अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है कुरान अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है लेकिन ये नेमतें अल्लाह ने किसके वास्ते से दी हैं रसूलुल्लाह के वास्ते से तो कहता है किसी से हमको क्या काम जैसे जो कोई एक बादशाह का गुलाम हो चुका तो वो अपने हर काम का इलाका उसी से रखता है दूसरे बादशाह से भी नहीं रखता अब आगे देखें मिसाल में तशबी अंबिया और औलिया को किस चीज से दे रहा है और किसी चोहरे चमार यानी कमीने और नीच का तो क्या जिक्र है नवजुबिल्ला मिजाज यानी अल्लाह को बादशाह कह रहा है और अंबिया और औलिया को चोहरा चमार जिसका तर्जमा होता है कमीना नीच नवजुबिल्ला अब बताइए इसके काफिर होने में कोई शक है अब या तो इस्माइल दहलवी की मोहब्बत इंसान रख ले या रसूलुल्लाह की मोहब्बत रख ले इस्माइल देलवी ना कबर में काम आएगा न कल बरोज क्यामत वो शफात कर सकता है कबर में भी रसूलुल्लाह का जलवा देखना है और क्यामत में भी रसूल्ला की शफात चाहिए तो इतनी सी बात है कि इसने ये बात गलत कही है लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर नाइन्टी फाइव ये इस्माइल देलवी ही की किताब है और ये दोनों किताबें इसने अंग्रेज़ों के दौर में लिखी इस्माइल देलवी इसके मानने वाले कहते हैं इस्माइल देलवी ने जिहाद किया लेकिन हम पूछते हैं किसके खिलाफ जिहाद किया तो कहते हैं सिखों के खिलाफ जिहाद किया हम कहते हैं मुसलमानों को जुल्म सितम अंग्रेज वो कर रहे थे और सिख तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ करना था कि सिखों के खिलाफ असल में अगर सिखों के खिलाफ उन्होंने कोशिश भी की है तो इसलिए कि अंग्रेज जो हैं वो सिखों को दबाना चाहते थे तो उन्होंने अपना एजेंट जो है जिहाद के नाम पर उभारा जैसे अफगानिस्तान में अमरीकी सीआईए ने जिहाद करवाया जिनका मकसद उन्हें रूस को शिकस्त देना था वरना अमरीका का और क्या मकसद लेकिन हकीकत में यह है कि जिस इलाके में ये मारे गए हैं इस्माइल देलवी वो बालाकोट का इलाका है उस इलाके में सैकड़ों मील तक सिखों का वजूद ही नहीं था तो सवाल यह है कि अगर ये जिहाद करने सिखों के खिलाफ गए थे तो बालाकोट में कैसे मारे गए असल में ये जिहाद इनका सुन्नियों के खिलाफ था ये इनको मुशरक कहते थे और मुशरकों के खिलाफ वो जिहाद करने के लिए निकले थे सुन्नियों को मुशरक कहते थे और बालाकोट में चारों तरफ जो है मज़ारात से अकीदत रखने वाले लोग थे उनसे उन्होंने जंग की और उन्हीं के हाथों ये मारे गए और इनकी किताब में ये लिखा है कि इस्माइल देलवी से किसी ने पूछा कि आप सिखों के खिलाफ जिहाद की दावत देते हैं हमें लेकिन हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो अंग्रेज हैं तो उन्होंने कहा नहीं अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है हमारे खैर खां हैं बल्कि जो अंग्रेज के खिलाफ वो जिहाद करेगा जंग करेगा तो अंग्रेजों की हिफाजत करना और अंग्रेजों की मदद करना हम पर फर्ज है ये अल्फाज इनकी किताबों में मौजूद है अगर आप इसकी मजीद तहकीक जानना चाहें तो नीचे से किताब हासिल कर लें खून के आंसू असल किताबों के हवाले हैं खून के आंसू ये किताब हासिल कर लें आप देखें कि अंग्रेजों की उन्होंने किस तरह किस किस तरह वफादारी की है तो सिरात मुस्तकीम सफा नंबर नाइन्टी फाइव पर वो लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना ये जिना के और सोहबत के ख्याल से भी बदतर है बल्कि ये गधे और गाय के ख्याल से भी बदतर है नौजबिल्लाजान पता ये है कोई मुसलमान कि जो इस तरह की गुफ्तु बर्दाश्त कर सके अस्सलाम का अयोहन नबी जब पढ़ेंगे नमाज में सलाम हो आप पर है नबी तो नबी का ख्याल लाना है कि नहीं लाना तो ये तो कहते हैं कितनी गंदी बात लिखी है कि इसको हम दोबारा दोहरा भी नहीं सकते तकवीतुल ईमान सफा नंबर आठ सफा नंबर दस पर लिखा रोजी की कशाइश और तंगी करना और तंदुरुस्त और बीमार कर देना उरूज और जवाल देना हाजतें पूरी करना बलाएं टालना मुश्किल में मदद करना ये सब अल्लाह ही की शान है हम भी मानते हैं ये सब करने वाला कौन है अल्लाह ताला है लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ने जरिया बनाया मदद अल्लाह करता है लेकिन किसी को जरिया बना देता है तो जब दुनिया के आम लोग जरिया बन सकते हैं तो क्या अंबिया और अलिया मदद नहीं कर सकते जब आम लोगों से मदद मांगी जा सकती है और शिरक नहीं है तो जो अंबिया और अलिया है उनसे मदद मांगना शिरक कैसे हो सकता है जिस तरह आम लोगों को वसीला समझकर मदद मांग सकते हैं तो अंबिया और औलिया को वसीला समझ कर मदद मांगे तो इसमें क्या हरज है हम उन्हें खुदा न समझा जाए इला और महबूद न समझा जाए यही समझा जाए कि हकीकी मददगार अल्लाह है और ये अल्लाह की अता से मदद करेंगे जिसका सबूत अहदीस तय्यबा में है कि साहब कराम जंग के अंदर या मोहम्मदा का नारा लगाते थे जिसके माना है या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए अगर तफसील जानना चाहें तो किताब मैार हिदायत यह शिर की हकीकत किताब कैसेट आप सी डी को सुने और किसी अंबिया ओलिया भूत परी की ये शान नहीं अब देखें अंबिया और ओलिया के साथ किसका जिक्र किया जा रहा है किसी अंबिया ओलिया भूत परी की ये शान नहीं जो किसी को ऐसा तसरुफ साबित करे और इससे मुरादे मांगे और मुसीबत के वक्त उसको पुकारे तो साहबा कराम ने मुसीबत के वक्त हजूर को पुकारा सही हदीस में मौजूद है हजूर ने तालीम दी कि मुसीबत आए तो कहो ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो ये सही हदीस में है साहबा कराम अली मुरिदवान ने हजूर के विशाल के बाद जब बारिश नहीं हुई तो हजूर की कब्र अनवर पर हाजिर होकर हजूर से मदद मांगी और अर्ज की कि आप बारिश की दुआ करें तो कई हदीसें इसमें मौजूद हैं अब ये क्या कहते हैं वो सो वो मुशरक हो जाता है सो वो मुशरक हो जाता है खा हाँ, यूं समझे कि इन कामों की ताकत इनको खुद ब खुद है खा हाँ, यूं समझे कि अल्लाह ने इनको कुदरत बख्शी है हर तरह शिरक है यानी कहते हैं कि अगर आपका ये अकीदा हो कि ये ताकत अल्लाह ने दी है बीमार को तंदुरुस्त करने की मादरजात अंधे को आंखें देने की ताकत अल्लाह ने दी है या बर्स के मरीजों को शिफा देने की ताकत अल्लाह ने दी है तो ये ताकत अल्लाह ने दी है ये अकीदा रखें अम्बिया और अलिया के बारे में तो भी शिरक है तो सवाल यह है कि कुरान पाक में सूर तोबा आयत नंबर 74 में है सूर तोबा आयत नंबर 74 अगना व रसूल मिन फदली अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमानों को अपने फजल से गनी कर दिया अब बताइए गनी करने वाला अल्लाह और हुजूर ने गनी किया तो किसकी दी हुई ताकत से जोर से कहें तो ये तो कहते हैं कि अगर नबी रसूल के लिए कोई ताकत माने तो ये शिरक है तो क्या कुरान शिर की दावत दे रहा है अगना रसूल मिन अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से मुसलमानों को गनी कर दिया मालदार कर दिया कुरान तो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंद कर दिया और ये कहते हैं जो किसी को ऐसी किसी के लिए ऐसी ताकत साबित करे मुशरक है तो इसके तौर पर क्या कुरान ने शिर की तालीम दी कुरान में इशाद है बतुबरी उल अकमहा वल अबरसा बीजनी ईसा आप मेरे हुक्म से मादरजात अंधों को शिफा देते और बर्स के मरीजों को शिफा देते और दूसरी जगह फरमाया उबरी उल अकमहा वल रसा वो ओहिल मऊता बीजनिल्ला ईसा आलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के इज़न से अल्लाह के हुक्म से मादाजाद अंधों को और बर्ड्स के मरीजों को शिफा देता हूं और अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दे जिंदा करता हूं तो पता चला कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की दी हुई ताकत से ईसा सलाम में मुर्दा जिंदा करने की ताकत भी थी और मरीजों को शिफा देने की भी ताकत थी और ये कहते हैं कि अल्लाह के इज़न से भी ताकत माने तो ये क्या है शिरक है तो फिर ना जाने इस्लाम किस चीज का नाम है अब कुरान का तो ये हुक्म है और वहाबिया ये कहते हैं कि तंदुरुस्त करना अल्लाह ही शान है जो किसी के लिए ऐसी ताकत साबित करे मुशरक है अब ये बताएं कि अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत हजरत ईसा सलाम के लिए साबित की कि नहीं की तो अल्लाह पर क्या हुक्म लगाते हैं और फिर हैरत की बात यह है कि ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें ताकत बख्शी ये अकीदा रखे तब भी शिरक है तो पता नहीं इनके यहां इस्लाम किस चीज़ का नाम है इसी तरह तकवीतुल ईमान सफा नंबर 11 पर लिखा कि किसी जंगल का अदब करना यानी शिकार न करना दरख्त न काटना मक्के मुकर्रमा जो हरम शरीफ है उसके अलावा किसी और जगह के दरख्तों की ताजीम करना और शिकार न करना और दरख्त न काटना ये शिरक है साफ हदीस का इनकार है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मक्के को हजरत इब्राहिम ने हरम बनाया और मैं मदीने को हरम बनाता हूं और मदीने की ताजीम में जो मदीने का हरम है उसके दरख्त काटने से मना किया गया और ये कहते हैं कि किसी और जगह की यानी हरम मक्का के अलावा किसी और जगह की ताजीम में दरख्त ना काटना यह शिरक है तो क्या रसूलुल्लाह ने शिरक की तालीम दी इसी तरह तकबीतुल ईमान सफर नंबर आठ पर लिखा कि किसी के लिए ये अकीदा रखना कि ये हमारी सिफारिश करेंगे ये शिरक है और इस मुशरक में और अबू जहल में कोई फर्क नहीं है किसी के मुतालिक ये अकीदा रखना कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे तो ऐसा शख्स मुशरक है और अबू जहल के मुशरक होने में और इसके मुशरक होने में कोई फर्क नहीं मुझे बताइए कि क्या ये हदीस नहीं है कि हाफिज कुरान दस अफराद की शफात करेगा शहीद सत्तर अफराद की शफात करेगा हाजी जिसका हज मकबूल हुआ चार सौ अफराद की शफात करेगा और आलिम बामल बेहिसाब लोगों की शफात करेगा और शफात कुबरा का दरवाज़ा रसूलुल्लाह खोलेंगे और सब नबियों के पास जाएंगे तो सब नबी कहेंगे जाओ दूसरे के पास और हुजूर कहेंगे अना लहा अना लहा मैं ही शफात करूंगा ये बुखारी मुस्लिम में सही हदीसें हैं तो अब बताइए तमाम चौदह सौ साल में तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है कि हुजूर भी शफात करेंगे और हुजूर के सदक़े में सालीन शफात करेंगे तो ये कहते हैं कि ये अकीदा रखे तो वो मुशरक और कैसा मुशरक है कि अबू जहल जैसा मुशरक है तो मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि हम मुसलमान हैं और हमारे अलावा सारे ही मुशरक जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में ऐसा गिरोह पैदा होगा जो अपने आप को मुसलमान समझेगा बाकी सबको काफिर समझेगा तो ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं बाकी सबको मुशरक और बिदती समझते हैं इसी तरह इन्होंने तकबतुल ईमान में करामात और मुआजात का इनकार किया क्योंकि करामात और मुआजात क्या है अल्लाह ने नबी को और वलियों को ताकतें दी कि वो कायनात में तसरुफ करें और वो कहते हैं ये अकीदा रखना भी शिरक है फल मुदबात अमरन सुर नाजियात की पहली आयत अल्लाह ताला ने फरिश्तों की उस जमात का जिक्र किया कि जिन्हें अल्लाह ने यह ताकत दी है कि वो पूरे आलम में तसरुफ करते हैं बारिश बरसाते हैं वो बदलों को चलाते हैं वो रूहें निकालते हैं वो जिंदा करते हैं सब अल्लाह के इज़न से करते हैं लेकिन अल्लाह के इज़न से फरिश्तों में तसरुफ की ताकत है कि नहीं बोले और ये कहते हैं कि अल्लाह के इज़न से भी फरिश्तों में ताकत माने तो ये शिरक है तो असल में इन्होंने शिरक को समझा नहीं शिरक की तारीफ क्या है किसी को इलाह समझना खुदा समझना महबूद समझना मुस्तकिल बिजात समझना और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान किसी का यकीदा नहीं हम यकीदा रखते हैं कि फरिश्ते जो ताकत रखते हैं अम्बिया जो ताकत रखते हैं अलिया जो ताकत रखते हैं कैसे रखते हैं बीजनिल्ला जोर से कहें और अल्लाह की मशीयत के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता इसी तरह बराहिन कातिया सफा नंबर छः ये देवबंदियों की इमायनास किताब है और ये इनके जो जिन्हें ये पेशवा मानते हैं उनकी किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है दलील क्या देते हैं दलील ये देते हैं कि इन अल्लाह अलाकुल्ल शहीन कदीर अल्लाह हर चाहत पर कादिर है तो जब बंदा झूठ बोल सकता है और अल्लाह झूठ ना बोल सके तो बंदा ताकतवर हो गया कितने अफसोस की बात है कि इसका यह मतलब नहीं अल्लाह हर ऐब से पाक है फिर तो नाउजुबिल्ला मिजाले कोई कहेगा कि बंदा जुल्म कर सके और अल्लाह जुल्म ना कर सके बंदा जिना कर सके और अल्लाह ना कर सके तो क्या सारी चीजें अल्लाह के लिए मानना शुरू कर देगा तो अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल सकता बोले अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता वो इस ऐब से पाक है और इन अल्लाह कुल्ल कदीर का मतलब है अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है और अल्लाह कभी झूठ को चाहता नहीं है तहजीर उन्नास सफा नंबर दो की इबारत हम पहले सुन चुके कि दारुल देवबंद के जो बानी है मैं यहां पर एक वजाहत कर दूं कि आप जो कश्मीर के लिए उछलते हैं और हम जो जो कश्मीर के लिए शोर मचाते हैं कि कश्मीर हमारा है इंडिया ने जालिमाना कब्जा किया है और हमने इस्लामी मुल्क हासिल किया तो दो कौमी नजरिया सही है लेकिन दारुल देवबंद कि उस वक्त के ओलामा उस वक्त के ओलामा और आज भी ओलामा मसलन असद मदनी फिर महमूद मदनी जो इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाना बहुत बड़ी गलती थी और बहुत बड़ा गुना था अल्लाह का शुक्र है कि हम इस गुना में शरीक नहीं हुए वो दो कमी नजरिए को नहीं मानते वो अपने दारुल देवबंद के जश्न में हिंदुओं को बुलाते हैं और इन्होंने इंदिरा गांधी को भी बुलाया और पिछले साल हिंदू जो जो पंडित थे उनको बुलवाया और रसूलुल्लाह ने सच फरमाया कि ये मुसलमानों पर शिर के इल्जाम लगाएंगे मुसलमानों से लड़ेंगे और बुत परस्तों से दोस्ती करेंगे तो हिंदुओं से बड़ी इनकी दोस्तियां हैं और अभी जो महमूद मदनी का बयान आया कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर दोनों इंडिया का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जालिमाना कब्जा किया हुआ है और इसी तरह दो कौमी नजरिया बिल्कुल गलत है तो मदरसे देवबंद के जो बानी थे कासिम नानोतवी उन्होंने अपनी किताब तहसीर नास में बात लिखी और आज भी ये किताब छपती है उसमें उन्होंने लिखा कि खातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं है बल्कि इसके माना है बिजात नबी तो हजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कहते हैं खातम नबीन का तर्जमा क्या है जोर से कहें आखिरी नबी और हजूर के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता अब यहां पर वो ये कहते हैं कि भाई हजूर के बाद देखो हजरत ईसा सलाम तो आएंगे हजूर के बाद कोई नबी आ नहीं सकता तो ईसा सलाम कैसे आएंगे तो मुझे बताइए समझाने के लिए एक मिसाल है किसी के चार बेटे हों और हम कहे ये आखिरी बेटा है तो क्या पिछले सारे बेटे मर गए खत्म हो गए अगर पिछला बेटा कोई घर पे आए तो क्या ये कहें कि कोई नया बेटा आ गया आखिरी बेटे का मतलब क्या होता है अब इसके बाद कोई बेटा नहीं है तो ये समझाने के लिए एक मिसाल है इसी तरह हम जब कहें कि जनाब इस इस मजलिस में ये आखिरी फर्द आए हैं तो इसका मतलब क्या बाकी सारे फर्द मर गए नहीं सबके आने वालों में सबसे आखिरी नंबर किसका है इसका नंबर है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इमारत बनाई गई मेरी मिसाल इस तरह है एक ईंट नहीं लगाई गई लोग उस इमारत को देखते थे और कहते थे कितनी खूबसूरत इमारत है लेकिन एक ईंट नहीं है वो आखिरी ईंट में हूं इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सारी ईंटें खत्म हो गई बाकी ईंटें मौजूद हैं तभी तो इमारत मौजूद है तो ईसा सलाम पहले आ चुके हैं तो इनका दोबारा दुनिया में आना ये माना नहीं है बल्कि मुराद ये है कि हुजूर के बाद अब कोई नया नबी नहीं आ सकता ये क्या कहते हैं कि हुजूर के बाद भी कोई नया नबी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं है अब सवाल यह है कि देवबंदी और तबलीगी जमात वाले वो ये कहते हैं कि हम हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं और आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत भी हमने बनाई है और कादियानियों के खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं हम इसका इनकार नहीं करते लेकिन हम ये पूछते हैं कि मदरसा देवबंद के बानी जिसने ये बात लिखी कि खातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं और हजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है आप उसे गलत क्यों नहीं कहते बस ये सवाल है हमारा आप उसे अपना इमाम और पेशवा क्यों मानते हैं जो ये गलत बात कहे जो कुफर क्योंकि कुफर है हुजूर को आखिरी नबी ना मानना ये कुफर है तो जो कुफर कहे उसको काफिर क्यों नहीं कहते गलत क्यों नहीं कहते उसको अपना पेशवा क्यों मानते हैं ये आप दोगला पॉलिसी क्यों करते हैं एक तरफ आप खत्म नबूवत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कासिम नानोतवी को अपना इमाम मानते हैं तो ये मुनाफिकत हुई ना अगर आप वाकई रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप कहें कि हमारा बाप हो हमारा पीर हो हमारा उस्ताद हो हमारा शेख हो मौलवी हो मौलाना हो मुफ्ती हो शेख उल हदीस हो शेख तफसीर हो अगर रसूलुल्लाह के खिलाफ बात करेगा तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा ये इश्क मोहब्बत की कैफियत होनी चाहिए वरना इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता इसी किताब तहजीर उन्नास के सफा नंबर पांच पर लिखा अंबिया अपनी उम्मत से सिर्फ इल्म में ही फोकियत रखते हैं अम्बिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं बाकी रहा अमल इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती बराबर हो जाता है मसावी हो जाता है बराबर हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं बताइए उम्मती कभी अमल में अपने नबी से बढ़ सकता है तो इन्होंने ये बात लिखी इसमें अच्छा एक बात आप बताएं कि अगर आपको कभी किसी देवबंदी या तबलीगी जमात वाले से या वहाबी से या अहल हदीस से गैर मुखलस से या जमात इस्लामी वाले से या तंजीम इस्लामी वाले से किसी भी ऐसे शख्स से कि जो मुसलमानों पर बार बार शिरक और बिदत के इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे कभी बात हुई हो तो आप देखें कि वो सारी बहस रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ करते हैं वो रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ ही बहस करेंगे रसूल्ला की शान कभी तस्लीम करने को तैयार नहीं होंगे मसलन आप उनसे कहिए कि सुलेमान सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत थी पहाड़ों पर हुकूमत थी दरियाओं पर हुकूमत थी जानवरों पर हुकूमत थी जिन्नात पर हुकूमत थी आपकी हुकूमत परिंदों पर थी हवा पर हुकूमत थी मान लेंगे लेकिन आप कहें कि रसूल्लाह की हुकूमत इससे बढ़कर है कहेंगे ये तो शिरक है सारी दुनिया पर रसुल्ला की हुकूमत थी तो शिरक हो गया सुलेमान आसमाम सारी दुनिया पर हुकूमत करें तो ये शिरक नहीं पर रसूलुल्लाह करें तो शिरक <coughs> आप कहें मलकुल मौत एक जगह पर होते हैं लेकिन सारी दुनिया को देखते हैं और बैक वक्त लाखों जगह पर वो पहुंच सकते हैं मशरक में मगरब में जितने लोग मरते हैं सबकी रूह मलकुल मौत कब्ज करते हैं और एक साथ करते हैं एक साथ पहुंच जाते हैं कहते हैं हाँ इसमें क्या हरज है और आप कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस और साबित है कि रोज़े अकदस से पूरी कायनात को देखते हैं और जहां पहुंचना चाहें अल्लाह के इज्जत से पहुंचते हैं तो फौरन कहेंगे ये तो शिरक है अरे जाने दीजिए शैतान के मुतालिक तो हर कोई ये अकीदा रखता है एक शैतान बड़ा खबीस मलून सबको देखता है सबकी आवाज़ें सुनता है सबके दिल के ख्याल भी जानता है और सबके दिलों में जो ख्याल पैदा होता है उस ख्याल पर हमला भी कर लेता है कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है बड़ा मरदूद है इसीलिए तो हमें हुक्म दिया गया शैतान के शर से पना मांगो और हम आदि से सहिया से रसूलुल्लाह की शान साबित करें कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मती के हर अमल को जानता हूं और कल बरोज क्याम मैं गवाही दूंगा तो हुजूर हमारे अमल को भी जानते हैं हमारी नीयतों को भी जानते हैं कहेंगे जी ये तो शिरक हो गया आपने अल्लाह के बराबर कर दिया यानी शैतान का मर्तबा मानने को तैयार हैं शैतान की ताकत मानने को तैयार हैं और हुजूर की ताकत नहीं मानते हो कहते हैं ये शिरक है ये तो लफ्जी कलामी गुफ्तगु हुई ना लेकिन किताब में भी इसी तरह लिखा हुआ यानी आप सोचेंगे ये तो इनका ये आम लोगों का ऐसा ख्याल है इनके बड़ों का भी यही ख्याल अब देखें मैंने अभी अर्ज किया बराहीन कातिया ये खलील अम्बेठवी की किताब है और खलील अम्बेठवी उलमाए देवबंद कई सरदार हैं इनके पेशवा हैं इनके इमाम हैं वो लिखते हैं अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहित जमीन का फखरे आलम को खिलाफ नसूस कतिया के बिला दलील महज कयास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है अब चंद उर्दू के अल्फाज का तर्जमा आपको बता दूं इल्म मुहित जमीन मुहित माने पूरा यानी पूरी जमीन का इल्म फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि शैतान को भी इल्म है पूरी जमीन का और मलकुल मौत को भी इल्म है इस बातों को पेश नजर रखकर आप ये कहें कि हुजूर को भी इल्म है तो कहते हैं ये बिला दलील है महस कयास फासिदा गलत ख्याल की वजह से है ये शिरक नहीं तो और कौन सा ईमान का हिस्सा है यानी ये क्या है शिरक है शैतान और मलकुल मौत को ये वसत कुरान से साबित हुई नस से साबित हुई क्या कहते हैं शैतान और मलकुल मौत को यह ताकत ये इल्म कहां से साबित है नस से साबित है फखरे आलम की वसत इल्म यानी फखरे आलम हुजूर के इल्म की वसत की कौन सी नस कतई है कि जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है अब चूंकि आपके सामने इबारत नहीं है अगर स्क्रीन पर इबारत होती तो मैं एक एक लफ्ज का आपको पहले तर्जमा बताता उर्दू माना तो आप इसको समझ लेते हैं लेकिन इसका मफहम मैं आपको समझा देता हूँ मफहम ये कहते हैं कहते हैं कि शैतान और मलकुल मौत के लिए जो हम मानते हैं कि शैतान जो है वो हर जगह देख लेता है हर आदमी को सुन लेता है हर आदमी के ख्याल को जानता है ये तो सही है ये तो दलील से साबित है लेकिन हुजूर के लिए अगर साबित करें तो कोई दलील नहीं मानता मैं और ऐसा कोई कहेगा तो वो मुशरक है अब आप बताएं कि शिर किसे कहते हैं जोर से बताएं अल्लाह के बराबर किसी को शरीक करना शिर किसे कहते हैं तो अगर ये शिरक है तो हुजूर के लिए अगर अकीदा रखें तो ये शिरक हो गया तो शैतान के लिए भी शिरक होना चाहिए कि नहीं अगर इतना इल्म हुजूर के लिए हो तो कहते हैं ये हुजूर अल्लाह के बराबर हो गए तो फिर शैतान के लिए इल्म रखें तो शैतान भी अल्लाह के बराबर हो गया कि नहीं हो गया तो शैतान के लिए शिरक मानने को तैयार है शैतान को वह अल्लाह के बराबर शरीक मानते हैं और हजूर के लिए अगर अकीदा रखे तो ये शिरक है असल बात क्या है असल बात है ये शिरक ये इनका बहाना है ये रसूल्लाह की ताजीम और तोकीर से और हजूर की शान से दूर करने के लिए उन्होंने बहाना क्या बनाया हुआ है शिरक तो बस हम सिर्फ यही कहते हैं कितने अफसोस है उस उम्मती पर कि जो रसूल्लाह की शान की अहदी से तैयबा देखने के बावजूद हजूर की शान मानने को तैयार ना हो और शैतान के बारे में आपने आज तक कोई कुरान की आयत सुनी है क्या आपने कोई हदीस पढ़ी है कि जिसमें ये हो कि शैतान को इतना इल्म दिया गया लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में कितनी हदीसें पढ़ी जाती हैं लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह की शान ना मानना और शैतान के इल्म को मानना इसका मतलब ये होगा इनके दिल में रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत किसकी है शैतान की हिफ्जुल ईमान सफा नंबर सात ये अशरफ अली थानवी साहब ने ये किताब लिखी है मसला ये है कि एक आदमी हजार जुमले कहता है आपसे प्यार के जुमले कहता है हजार जुमले और एक जुमला एक जुमले में वो आपके वालिद की गुस्ताखी करता है आप उसके हजार जुमले को देखेंगे कि एक जुमले की गुस्ताखी को देखेंगे अब अशरफ अली थानवी ने नशरुद्दीब में रसूलुल्लाह की बड़ी शान लिखी है और कई किताबों में रसूलुल्लाह की शान लिखी है लेकिन जब तक उन्होंने रसूलुल्लाह की जो गुस्ताखी की है जब तक वो इससे तोबा नहीं करेंगे शान लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी इसने रसूलुल्लाह की शान में दो हजार सफ़े लिखे हैं कितने हजार सफ़े दो हजार सफ़े से जायद सफ़े लिखे हैं लेकिन हम उसे कबूल नहीं करेंगे जब तक कि वो जो जो गुस्ताखियां की हैं और इसने हजूर को आखिरी नबी नहीं माना जब तक वो तोबा नहीं करता तब तक वो मोमिन नहीं अब तो मर गया तो कुफर पर खत्म हुआ तो हिफ्जुल ईमान में सफ़ा नंबर सात में हजूर के इल्म की नस्बत यह तकरीर की मैं आपको इसका मफहम पहले समझाता हूं ज़ात मुक़दसा रसूल सल्ला वसलम वसल्लम पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना यानी अगर कोई कहता है कि रसूलुल्लाह इल्म गैब रखते हैं अल्लाह की अता से तो सवाल यह है कि वह अल्लाह की अता से कुल गैब रखते हैं कि बाज गैब रखते हैं कुल गैब रखते हैं या बाज गैब रखते हैं बताइए हमारा कीदा क्या है बाज गैब रखते हैं अल्लाह के बराबर इल्म नहीं है बोले अल्लाह के बराबर नहीं है क्योंकि हर चीज का कुल गैब यानी इल्म गैब गैर मुतनाही गैर महदूद सिर्फ अल्लाह के पास है हुजूर का इल्म वो है जो अल्लाह ने अता फरमाया वो अल्लाह के कुल गैब का बाज है क्या है वो अल्लाह के गैब का बाज है तो देखें इबारत यह है आपकी ज़ात मुकदसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर जैद के कहने के मुताबिक सही हो तो सवाल ये पैदा होता है दरियाफ तलब यह अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तमाम मुसलमानों का अकीदा क्या है कि हुजूर को बाज उलूम गैबिया हैं बोले ये अव्वलीन और आखरीन का इल्म लोहे महफूज का इल्म ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बाज है बोले अव्वलीन आखरीन का इल्म लोहे महफूज का इल्म ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में क्या है बाज है अगर बाज उलूम गैबियां मुराद हैं और हजूर के इल्म गैब के मुतालिक तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है और हकीकत भी यही है कि हुजूर को बाज उलूम गैबिया हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस ऐसा इल्म गैब तो जैद अमर बल्कि हर सभी बच्चे मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात और बाइम जानवरों के लिए भी हासिल है अब इश्क रसूल की जरा सी क्षमा हो हल्का सा इश्क रसूल दिल में मौजूद हो और इस इबारत को सुने यकीन जाने ये इबारत मुझसे पढ़ी नहीं जाती इतनी गंदी इबारत है कि हम तो गुनागार हैं इसके रसूल का एक जर्रा बंदा इस इबारत को पढ़ नहीं सकता मुझे हैरत है कि इस इबारत के बावजूद भी अशरफ अली थानवी को जो अपना पेशवा मानते हैं तो वो रसूलुल्लाह की शफात कैसे पाएंगे कि उन्होंने रसूलुल्लाह के इल्म गैब के मुतालिक कहा कि ऐसा इल्म गैब पे हुजूर को कुल गैब तो है नहीं अल्लाह की आता से अल्लाह का जो इल्म है उसका बाज गैब है और वो बाज गैब कितना है अवलिन आखरीन का गैब है लौह महफूज का गैब है तो उस गैब के मुतालिक कहते हैं कि ऐसा इल्म गैब तो जैद को भी हासिल है अमर को भी हासिल है बच्चे को भी हासिल है पागल को भी हासिल है जानवरों को भी हासिल है यकीन जानिए मैंने ये तजर्बा किया कि रसूलुल्लाह के लिए इबारत पढ़ी जाए तो लोग कहते हैं जरा हम पूछेंगे एक शख्सियत थी जो देवबंदियों के मदरसे से आलिम थी मैंने उनसे कहा कि ये बताइए अशरफ अली थानवी कुल इल्म दीन रखता था या बाज इल्म दीन तो कहने लगे कुल इल्म तो अल्लाह के पास है बाज ही था तो मैंने कहा बाज था तो फिर बाज में अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस ऐसा इल्म तो जैद बकर कुत्ते खंजीर बंदर जानवरों पागलों बच्चों को भी हासिल है यकीन जाने वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुझे कहा कि आपको हमारे आलिम के जिक्र करने का अदब नहीं है इख्तलाफ अपनी जगह होता है लेकिन तमीज से बात तो करें मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया अशरफ अली थानवी ने जो रसूलुल्लाह के इल्म के बारे में इबारत लिखी है उसमें मैंने अशरफ अली थानवी का नाम रख दिया है जब अशरफ अली थानवी चौदहवीं सदी के इस मुल्ला का नाम रख दिया तो तुम आग बगोला हो गए और रसूलुल्लाह की अगर रसूलुल्लाह का जिक्र किया मैं इबारत रखता हूं तो, तो आप कहते हो इसका ये मतलब नहीं होगा यूं होगा वो होगा मैंने कहा अभी आप अभी आपको आग लग गई आपने कौन से दारो रफ्तार से फतवा लिया है कि आसिफ ने बेदबी की है कि नहीं की आपको बुरा लगा गुस्सा आ गया कि नहीं आप गए किसी मुफ्ती से फतवा लेने के लिए लेकिन जब रसूलुल्लाह की शान की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं असरफ थानवी ने लिखा ऐसा कैसे हो सकता अब जरा आप तस्वुर करें भाई कोई भी देवबंदियों ये तबलीगी जमात का या वहाबी का आलिम होगा तो वो कुल इल्म रखता होगा या बात जोर से बताइए बस अब हम उसे कहें कि ये आपका मुफ्ती आजम है यह आपका बहुत बड़ा शेखुल हदीस है बहुत बड़ा आलिम है इसको बाज गैर यानी इसको बाज इल्म है या कुल इल्म है तो क्या कहेगा बाज इल्म है फिर कहें कि इसमें उस आलिम की क्या तखसीस ऐसा इल्म तो जैद अमर बल्कि हर बच्चे पागल बल्कि तमाम जानवरों कुत्तों बिल्लों खंजीरों को भी हासिल है तो बताइए वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा तो वो कम अज कम थप्पड़ नहीं मारेगा तो उठ के चला जाएगा बोलेगा आप हमारे आलिम का इस तरह जिक्र कर दो हजरत आयशा सदीक रदी अल्लाह तला के सामने किसी ने कहा कि अगर नमाजी के आगे से कुत्ता गुजर जाए या औरत गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है हजरत आयशा जलाल में आ गए और आपने फरमाया तुमने हमें कुत्ते से मिला दिया तूने कुत्ते के जिक्र के साथ हमारा जिक्र किया तो शर्म नहीं आती उसने क्या कहा था कि नमाजी के आगे से कुत्ता गुजर जाए या औरत गुजर जाए नमाज टूट जाती तो आपने फरमाया कुत्ते के जिक्र के साथ हमारा जिक्र मिला दिया तो शर्म नहीं आती उसने हजरत आयशा का नाम नहीं लिया था सिर्फ क्या कहा था कुत्ता और औरत गुजर जाए तो हजरत आयशा जलाल में आई कि तूने औरतों को कुत्ते के साथ मिला दिया शर्म नहीं आती हुजूर ने यह नहीं फरमाया क्योंकि नमाज टूटती नहीं है सिर्फ गुजरने वाला क्या होता है गुनागार होता है तो यहां सोचें कि इन्होंने रसूलुल्लाह का जिक्र के साथ किसका जिक्र मिला है पागल का बच्चे का जानवरों का अगर जरा बराबर इसके रसूल हो ना वो ये इबारत पढ़ के कभी भी इनके मसले को इख्तियार नहीं कर सकता कम अज कम वो ये जरूर कहेगा कि जिसने ये इबारत देखी उसके काफिर होने में कोई शक नहीं क्योंकि रसूल्लाह की मुझे शफात चाहिए मैंने अशरफ अली थानवी का कलमा नहीं पढ़ा कासिम नानोतवी का कलमा नहीं पढ़ा मलियों का कलमा नहीं पढ़ा मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है रसूल्लाह की बेअदबी का तो आलम यह है कि ओलमा ने लिखा कि अगर कोई किसी के मुतालिक कहे कि फुला के कपड़े मेले हैं तो ठीक है आप कह सकते हैं मेरे वालिद के कपड़े मेले हैं लेकिन रसूल्लाह के मुतालिक ये नहीं कह सकते हजूर के कपड़े मेले हैं कहा ये हुजूर के कपड़ों की तोहन है और हुजूर के कपड़ों की तोहन करने वाला काफिर है तो आप सोचें कि वो रसूलुल्लाह के इल्म की कैसी तोहन कर इसके बावजूद कहा यह जाता है कि जनाब ऐसी बातें ना की जाए तो हम यही कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ये जो बातें इन्होंने लिखी हैं इनसे वो तबलीगी जमात वाले और उलमा देवबंद बरात का ऐलान कर दें और कह दें ये सारे काफिर थे पांच अफराद हैं ये पांच अफराद काफिर थे इन्होंने जो लिखा गलत लिखा रसूलुल्लाह की तोहिन भी की है सवाल ये है कि अगर एक यहूदी तोहिन करता है तो हम जुलूस निकालते हैं और खुद इनके पेशवा इतनी बड़ी बड़ी तोहिन करें और वो इन किताबों को छापते भी रहे उसकी तावीलात करते रहे जी इसका मतलब ये नहीं था उसका मतलब ये नहीं था तो हम जब अपने वालिद की गुस्ताखी सुनते हैं तो किसी मुफ्ती से पूछते नहीं हमें जब गुस्ताखी लगती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप से बढ़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए अपनी जान से बढ़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए अब आखिरी एक नशिश बाकी है इन ताला आइंदा इतवार आखिरी नशिश होगी ये अकायद का चैप्टर जो था यानी लोगों की जो कुफरियात की बातें थी वो तकरीबन मुकम्मल हो गई आखिरी नशिश अहम तरीन नशिश है कि ईमान का तहफ़ इस दौर में हम कैसे कर सकते हैं आप खुद भी आइए इसकी दावत ज़रूर दें आखिरी नशीज किसी की मिस ना हो इन कोशिश करेंगे कि ठीक साढ़े ग्यारह बजे नशीज शुरू हो जाए साढ़े ग्यारह बजे से लेकर जहर की अजान तक अल्लाह रबालमीन हम सबको ईमान का तहफ़ नसीब फरमाए अब एक अवसर खसूसी हदिया चालीस रुपये पर दस्तियाब है अल आकिब रिसाला जुलाई का और ये पंद्रह रुपये हदिये पर दस्तियाब है महाना महफिल गैबी इमदाद बरोज बुध चार अगस्त और इस दफा मौजू है माह रमजान मुबारक की कदर नसीब हो जाए माह मुबारक माह रमजान मुबारक की कदर नसीब हो रात पौने दस बजे से लेकर बारह बजे तक इनशाला कादरिया लॉन जेल चौरंगी के पास ये महाना नशिश होगी इसी बुध को आप ज़रूर ब आए खातन के लिए पर्दे के साथ अहतमाम है बिस्मिल्लाम अलहमदिल्लाबीआलमीन वसलात वसलाम सैदिलमरसलीम ए मालिक मौला परवरदिगार तेरे बंदे तेरी बंदियाँ अपने काम काज छोड़कर अपने ईमान के तहफ़ के लिए यहाँ पर हाजिर हुए ए अल्लाह हमें हमारी औलाद को हमारी नस्लों को ईमान का तहफ़ अता फरमा हमें तेरी और तेरे हबीब की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा हर बुरे अकीदे से हर बुरे ख्याल से हर बुरी सोच से हमें महफूज फरमा ए अल्लाह हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे ए अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत में हिफाजत फरमा हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमा जितने हालिया बारिशों में और इस प्लेन के हादसे में शहीद हुए ए अल्लाह उनकी मफफरत फरमा मोहम्मद फिरोज भाई मोहम्मद नवीद भाई और कारी अब्दुल कयूम साहब और जितने मालिक मौला इस वाक़े में इंतकाल कर गए मुसलमान सबकी मकफरत फरमा लवाहिकीन को सब्र अता फरमा ए मालिक हम सबकी जान माल इज्जत आबरू ईमान और अमल की हिफाजत फरमा हम सबको सिरात मुस्तकीम पर हमेशा गामजन रहने की तोफ़ी अता फरमा जो मांगा है जो मांगेंगे जो बेहतर हो वो हम सब के हक में कबूल मंजूर फरमा इन अल्लाबी वसलम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामन अलैक या सय्यद या रसूल अल्लाह ए मालिक मौला ये सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल फरमा سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق जब्त में वापसी हो या वल्लाह लब्य हुला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंशाल्लाह ताला अजान जोहर होगी अजान का जवाब दीजिए और सवाब कमाइए بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله अजान के एहतराम में अपनी गुफ्तगु और कामकाज को रोककर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने किया कमाई